有过很多 स इच्छा वेद यत्र पहले बताया कि नागर तो दुष्कर्ता नाशांतो नाशनादि कहा नाशांत मानसो बापू प्रज्ञा में नवाब मया चरित्र से उपराम हो मन और इंद्रियों में भोग की वासना शिथिल हो गई हो चित्त में एकाग्रता हो और किसी भी सिद्धि की इच्छा न हो सदगुरु की कृपा हो तब महावाग के जन्य अखंडार बुद्धि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है जब तक दुष्चरित्र में प्रीति है दुष्चरित्र में जो धर्म के अनुसार वस्तु भोग कर्म हमें प्राप्त करने उनमें संतोष नहीं है और अधर्म के द्वारा हम वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं अधर्म के द्वारा भोग प्राप्त करना चाहते हैं अधर्म के द्वारा कल कारखाना बढ़ाना चाहते हैं तो अभी तो संसार की ओर वासना का इतना तीव्र वेग है कि परमात्मा को हम अपनी बुद्धि वृत्ति से ग्रहण करें ये प्रश्न कहाँ उठता है वो तो हमारी चित्तवृत्ति ही नियंत्रण में है नहीं है मानव संसार में जो भी मनुष्य है उसको कुछ भोग चाहिए कुछ भोग के बिना तो रह नहीं सकता तो कुछ वस्तु भी चाहिए और कुछ काम भी करने को चाहिए तो प्रश्न ये है कि जो तुम भोग करते हो वो धर्म के अनुसार की धर्म के विपरीत जो तुम धन इकट्ठा करते हो वस्तु इकट्ठा करते हो वो धर्म के अनुकूल की धर्म के विपरीत और जो तुम काम करते हो कर्म करते हो वो धर्म के अनुकूल की धर्म के विपरीत तीन बात के संबंध में ये प्रश्न है भोग वस्तु और कर्म हाँ। अच्छा जो मन में आए सुई भोग कर लिया करो जो मन में आवे वही चीज उठा लिया करो जो मन में आए वही कर डाला करो तो इसका मतलब हुआ कि तुम मन के गुलाम हो और संसार की छोटी छोटी चीज में तुम्हारी आवश्यकति है ये क्रम है वो अर्थाशक्ति भोगाशक्ति और कर्माशक्ति इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमारे हृदय में धर्म में रुचि धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए वो भीतर बैठा हुआ कहे कि देखो ये भोग मत भोगो तो ये एक ये वस्तु तुम्हारे हक की नहीं है ये कर्म तुमको नहीं करना चाहिए और धर्म की आवाज है ना साधक श्रवण करे सुने उसकी आज्ञा माने भोग अर्थ और कर्म के आकर्षण से मुक्त हो जाए तो अच्छा भाई हमको भोग में तो ये आसक्ति नहीं है कि क्या खाएं कर्म में भी ये आसक्ति नहीं है कि क्या करें धन में भी ये आसक्ति नहीं है कि हमारे पास आ रहे परंतु ये हमारे शरीर में रहने वाली इंद्रिया बहुत दुख देते हैं हमको स्त्री नहीं चाहिए हमको तो हमको तो हमारी इंद्रिय की तृप्ति चाहिए ये तो कामर्पना हो गया हमको शास्त्रोक्त कर्म नहीं चाहिए हमारा हाथ तो कुछ भी मारपीट किए बिना चोरी सवारी किए बिना रहता ही नहीं तो फिर बोले मन में तो वासना ही वासना उदय होती है एक आदमी स्त्री से अनासक्त हो सकता है बना लेकिन मित्रेंद्रिय उसके नियंत्रण में हो ये दूसरी बात है एक आदमी ये कह सकता है कि हमारी बड़े में भी आसक्ति नहीं है और आलू में भी आसक्ति नहीं है और फूल में भी आसक्ति नहीं है हमें तो कुछ न कुछ चाहिए विषय में खीर में तो- खीर न मिले तो हमारे महीने चल सकता है तो चाट में मिले तो मेरे महीने चल सकता है लेकिन तो जीव को कुछ न कुछ चाहिए जीव नहीं मानते हैं चीज में आसक्ति नहीं है जिहदा काबू में नहीं है तो ये इंद्रिय लौल्य है वो श्रवत्तनम अनुकृतम सर्वम परस्ता सिद्धित ये कहते हैं कि शरीर में जो साधन का रस भरता है और जप करते हैं ध्यान करते हैं पूजा करते हैं तो उससे एक दिव्य रस शरीर में उत्पन्न होता है उपनिषदों में इसका वर्णन आता है साधक के शरीर में से दिव्य गंध निकलती है वर्ण प्रसाद आवाज में मिठास आ जाती है रंग में निखार आ जाता है ये साधक के जीवन में होता है परंतु सारा रस जो भजन रस इकट्ठा होता है ध्यान रस सत्कर्म रस वो जब इंद्रियों में लोलता आती है तो जैसे घरे में फील हो गया हो और भरा भराया पानी सब बह जाए हाँ। इस प्रकार इंद्रियों के मार्ग से भजन का रस बढ़ जाता है उससे जो शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए ना उससे जो बिजली बननी चाहिए जो चित्त वृत्ति को उठा के परमात्मा के साथ जोड़ती है वो शक्ति नहीं बनती शक्ति का निर्माण नहीं होता अब इसी तरह से कर्म करना है तीन ही चीज है केवल संसार में भोगाशक्ति अर्थाशक्ति और कर्मा शक्ति तो शक्ति तो अत्यंत बाह्य है व्यापारी लोग होते हैं शक्त नहीं होते हैं उनका बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए चाहे खाने को न मिले फटा कपड़ा पहनते हैं हमने देखा करोड़पति आदमी को फटा कपड़ा पहने देखा हाँ, फटी धोती फटा कुर्ता है करोड़पति बोला एक करोड़पति हमारे पास आता है कभी कभी प्रामाणिकता के साथ और खाने पीने में उसकी कोई बाजार की चीज नहीं खाता थोड़ा प्रामाणिक है और बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है रोज बढ़ रहा है लेकिन वो टैक्सी पर नहीं बैठ सकता बस पर बैठ के आता है ये तो क्या है कि अर्था शक्ति इसका नाम अर्था शक्ति है एक भोगा शक्ति है एक अर्था शक्ति है हाँ एक ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनको भोगा शक्ति भी नहीं है और अर्था शक्ति भी नहीं है लेकिन दिन भर उनको कुछ न कुछ खटखट करने के लिए चाहिए है ना कोई सगाई जोड़ दी और कोई आंदोलन नहीं जोड़ दिया कहीं है ना कहीं झाड़ू लगाने लगे कहीं फोटो खिंचवाने लगे है ना हमने एक किताब पढ़ी थी बचपन में हमको सत्रह अठारह बरस की उम्र में एक साधु ने दी थी तो उसमें लिखा है कि संगठन चाहे कितना भी पवित्र हो दस आदमियों का मन स्तर हमेशा एक तरीका नहीं रह सकता इसलिए संगठन में सांसारिकता आती है और अंत को गतवा वो भ्रष्ट हो जाता है कितना बड़ा भी संगठन हो अंत में विनाश ही उसका परिणाम है ये जो आध्यात्मिकता का मार्ग है ऐसा नहीं है कि दस आदमी एक साथ इस पर लगातार बराबर बराबर चलाए कोई निर्गुण में चला जाएगा कोई निराकार में रह जाएगा कोई साकार की ओर जाएगा हाँ, कोई ज्ञान में जाएगा कोई ध्यान में जाएगा कोई योग में जाएगा है ना सबकी रुचि सबकी मनोवृत्ति अलग अलग होते हैं तो ये आध्यात्मिक मार्ग जो है वो बड़ा विलक्षण है तो इंद्रिय लोलता और मन में वासना अब उसके बाद बोले मन एकाग्र किया एकाग्र करने में मन बड़े विलक्षण होता है ये मन की एकाग्रता का फल होता है देवता का दर्शन होता है देवता के लोक में गमन होता है स्थान निमंत्रण संघर्ष मया करणम हाँ। कहीं लो दूर का दिखा दें दूर का सुना दें ये कर दें वो कर दें पर ये नहीं समझना कि हमेशा के लिए मिल रहा है अभिमान नहीं करना अभिमान करते ही वो छूट जाता है वो विघ्न है परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में विघ्न है चित्त की एकाग्रता का जो फल है दूरदर्शन दूर श्रवण शरीर में लघिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम में ईशित्व वसित्व आदि अष्ट सिद्धियों का उदय तो जब उसको आदमी चाहेगा और तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी कहीं भी परिच्छिन्न पदार्थ में जो एक टुकड़ा है कहीं भी अनात्म पदार्थ में जो अपने से अन्य है कहीं भी उत्पत्तिशील और गुणाशील पदार्थ में जो काल परिच्छिन्न है में अगर रुचि बनी रहेगी तो आत्म वस्तु का दर्शन नहीं होगा अच्छा भाई ये भी सही तो अब ये देखना है कि तुमको आचार्य मिला के नहीं तो आचार्य की बात यह है नारायण की आजकल तो तरह तरह के पंथ तरह तरह के फिर के आचार्य की भी कसौटी ये है कि जो अपने को ब्रह्म जानता हो और तुमको ब्रह्म लिखा दे तो वैदिक आचार्य वही है जो तुम्हें बेटा दे दे मुकदमे में जीत करा दे है ना रोग दूर कर दे वो संसार का आचार्य है वो मुकदमे में जीत करा दिया तो वकील के बराबर हुआ रोग दूर करा दिया तो डॉक्टर के बराबर हुआ तो ये जो सदगुरु है वो जो आत्मदान करता है वो सदगुरु होता है और इसमें मुख्य बात यह है कि हमारे मैं को ब्रह्म बताना है और हमारा मैं हमारी बुद्धि का विषय होता नहीं इसलिए सामने वाला कह रहे कि तुम ही ब्रह्म हो तो संशय विपर्जय रहे ज्ञान हो जाए लेकिन बुद्धि में संदेह है गुरु जी की परीक्षा लेने पहुंच जाओ तो, तो सुनाया था ना आपको कल के परसों सुनाया था है? तो ये चेला गुरु की परीक्षा लेने गया तो गुरु समझ गए कि परीक्षा लेने आया है तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारी परीक्षा तो तुम बाद में लेना तुम्हारे चित्त में मेरे प्रति संशय है तभी तो परीक्षा लेने आए हो तो अभी तुम जाओ हमारी परीक्षा में तुम फेल हो गए क्योंकि तुम श्रद्धा से नहीं आए हो संशय से आए हो हमको तुम बाद में फेल करना हम तुमको पहले ही फेल कर देते क्या लेना देना तुम आचार्य विधान तो आचार्य विधान पुरुष तो पाप से उपरामता उपरती इंद्रिय और मन की लोलता की शिथिलता चित्त में एकाग्रता और एकाग्रता के फल की भी इच्छा में है और सदगुरु का अनुग्रह जब होए तब ये तत्वमस्यादि महावाक्य जो हैं प्रज्ञान अपने अर्थ का साक्षात्कार कराते हैं और नहीं तो हो नारायण ढूंढो ढूंढो भाई वो आपने सुना होगा ना एक बात गंदी है एक नैयायिक और एक वेदांति दोनों साथ साथ यात्रा कर रहे थे अंधेरा था नैयायिक जी के पांव में कुछ गीली चीज लग गई तो उन्होंने कहा कि क्या है इसका हम अनुसंधान करेंगे वेदांति ने कहा कि देखो अंधेरा है रास्ते में चल रहे हैं कोई भी गीली चीज हो जल्दी है लग गई लग गई घर चलना पाँव धो लेना है ना और गुलानी हो तो स्नान कर लेना और क्या करोगे एक जी नहीं माने पाँव में तो गीली चीज लगी थी हाथ भी लगा लिया अरे ये तो गीली गीली है तो क्या है फिर बोले है क्या इसे खोज करनी चाहिए अरे छोड़ भाई पाँव तो गंदा हुआ ही था हाथ भी गंदा हुआ अब तो छोड़ दे बोले ने उन्होंने नाक से लगा लिया वो अरे ये तो बिस्था है तो ये इसको बोलते हैं तर्कशास्त्र इसका नाम है तर्कशास्त्र अरे ये अनात्म पदार्थ जो संसार का है ये क्या है ये खोज करने लायक नहीं है खोज करने लायक तो आत्म पदार्थ है मैं कौन हूँ मैं क्या है ये ढूंढने की वस्तु है हाँ। क्योंकि परमात्मा जो है वो मैं के साथ बैठा हुआ है भक्त लोग भी ऐसे ही मानते हैं वो ऐसे मानते हैं कि हमारा मैं जरा बाहर की ओर है हैं? और परमात्मा भीतर की ओर है ऐसे हो वो मैं जो है ये परमा रामानुज संप्रदाय में मानते हैं कि हमारे भीतर परमात्मा बैठा है तो कैसे बैठा है बोले ये शरीर जो दिखता है ना ये तो जीव का है हैं? तो इसके भीतर हमारा अहमर्थ जीव बैठा है और जीव के भीतर परमात्मा बैठा है तो जीव जो है वो परमात्मा का शरीर है जीव शरीरी है और ये स्थूल शरीर है और जीव शरीर है परमात्मा शरीरी है तो देखो भक्ति संप्रदाय में ईश्वर कहा निकला जैसे शरीर के भीतर जीव वैसे जीव के भीतर परमात्मा यही ना तो जब मैं के पास पहुंचोगे तो परमात्मा के पास पहुंच जाओगे हाँ, तेरा मानव संप्रदाय में ऐसे मानते हैं हाँ, और वेदांती लोग ऐसे मानते हैं कि ये सारा संसार और बुद्धि सबको चलाने वाला नियंता ईश्वर तो ईश्वर जरा बाहर की ओर सबका संचालन करता हुआ और उससे जरा सा पीछे को हट के है ना दृष्टा हाँ, वो जगत को भी देख रहा है ईश्वर को भी देख रहा है और उसकी दृष्टि में ही जगत और ईश्वर दोनों है और जगत जीव ईश्वर तीनों दृष्टि मात्र है और दृढ़ मात्र वस्तु आत्म तत्व है ऐसे अद्वैत वेदांति ऐसे बोलता है लेकिन दोनों में भले सामने की ओर जीव पीछे की ओर ईश्वर अथवा सामने की ओर ईश्वर पीछे की ओर जीव करना सरिया सखाया दोनों रहते तो एक साथ ही है इसलिए परमात्मा की उपलब्धि में परमात्मा की उपलब्धि में अंतर्मुख होना आवश्यक है जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में रीति थी ना लड़की का हाथ अपने हाथ में लेके पिता है ना बर के हाथ में समर्पित करता ये बात तो कब थी कि जब अष्ट वर्षा भरे गौरी नौ वर्षा जरोहिणी है ना आठ नौ ग्यारह बारह नाबालिग लड़की की शादी और जब लड़की जब हो गई पच्चीस बरस की पच्चीस बरस में सुनना हमने पहले पहल सुना था गांव के पास एक बहुत बड़े राजा रईस थे तो उनको अपनी बराबरी का कोई दर ही नहीं मिलता था तो उनकी लड़की तीस बरस तक अनजाजी रही उसकी लड़की तो उतनी सुंदर नहीं थी पर वो चाहते थे कि हमें जो गर मिले वो बिल्कुल सुंदर मिले लड़की के तो वो थे मुहासे उग गए थे है ना तो, तो हो गई थी उम्र में एक आध बाल भी कपड़े लगे थे पर वो चाहते थे कि हमको जगत में जो सर्वश्रेष्ठ लड़का है वो मिले और वो महाराज अनुरूप इच्छा के कारण विवाह तो होता नहीं था श्रेष्ठ लड़के इनका कर तो वो मैंने पहले पहले सुना था बम्बई में आया तो हमारा वो आश्चर्य मिल गया बिल्कुल क्योंकि यहाँ तो ज्यादा चालीस चालीस वर्ष की लड़की चाह रही है कि हमारा ब्याह हो ब्याह हो पैतालीस की हो गई बाल पर गैर रंगवा लिया बाल है ना और है ना चाहती है कि जाओ तो वो आश्चर्य छूट गया तो ब्याह वासना के लिए अपनी पसंद का ब्याह हुए वासना की पूर्ति के लिए ये दूसरी बात होती है और वासना को एक कायदे में करके अंत में निवृत्त करने के लिए जो ब्याह होता है वो दूसरी चीज है धर्म विवाह दूसरी वस्तु है और भोग विवाह भोग विवाह दूसरी वस्तु है तो अपने यहाँ पहले ये रीति थी कि आचार्य जो है वो जीव का हाथ पकड़ के ईश्वर के हाथ में अर्पित कर दे वही ईश्वर का विवाह था तो वो तो जब तक वही नाबालिग गए ना जीव श्रद्धालु गए भोला भाला गए सरल चित्त हो माँ बाप की बात पर जैसे लड़की विश्वास करती है उसकी हितैषिता पर और उसकी बात पर वैसे तो आचार्य की बात पर और उसकी हितैषिता पर विश्वास करे तो आचार्य हाथ लेके ईश्वर के हाथ में दे दे है ना तत्ण हो शरणागति तो तत्ण ही लाभ करती है वो तो उसी समय ईश्वर की स्वीकृति हो जाती है लेकिन ये वेदांति जो है ये कोई आठ नौ दस बरस की लड़की तो है नहीं है ना ये तो हरा बिल्कुल धींगड़ी जैसे बोलते हैं है ना बीस बरस पच्चीस बरस की लड़की ये तो पहचानना चाहते भाई हम तो माँ बाप के कहने से नहीं है ना इसमें आचार विचार की जरूरत नहीं ठीक बात है ढूंढो भाई तो, तो वो दूसरे को अगर ढूंढना होता तो भले ढूंढ लेते लेकिन जहाँ स्वयं पति है स्वयं पत्नी है स्वयं पुत्र है स्वयं पिता है जहाँ स्वयं अपना स्वरूप ही अद्वैत है वहाँ यंत्र का विषय कैसे हो गए तो स्वर्ग का निषेध कर देने पर जो शेष रहता है उसको बताने के लिए आचार्य की जरूरत पड़ती है यही समस्या तत्वमस्यादी महावाक्य इसका विज्ञान ये है बोला तो अब किसी किसी की रुचि तो ऐसी होती है कि जो दुर्लभ हो उसी को हम प्राप्त करेंगे सुलभ में रुचि नहीं होती है और कोई कोई ऐसे बुजबुज होते हैं जो दुर्लभ की बात सुन करके विमुक्त हो जाते हैं कौन जाए झगड़े में कौन पड़े तब तो आप अपने आप को जरा तौलो हम चाहते हैं कि खुद सुगम साधन हो धन पाने के लिए तो कठिन से कठिन साधन करेंगे भोग पाने के लिए कठिन से कठिन साधन करेंगे कारखाना करने के लिए कठिन साधन करेंगे हैं? लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब कठिन साधन की बात आवेगी तो तय बोल जाएंगे इसका अर्थ है कि चित्त में उत्साह परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है कभी कह दें कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सरल है तो जाके बैठ गए और इंतजार करने लगे कि अब आता है अब आता है है ना उसमें भी माला वाला नहीं फेरेंगे है और कभी कह दिया कि बड़ा कठिन है तो रूठ के बैठ गए कि छोड़ो महाराज जब इतना कठिन है उसको मिलना तो क्या कर ऐसे लोगों को क्या ईश्वर की प्राप्ति हो गए तो यहाँ देखो परमात्मा का वर्णन करते हैं तो इच्छा दो इच्छा में वो परमात्मा बिल्कुल इधम इच्छा ऐसा है ये भला कौन जानेगा साधन रहित कोई भी पुरुष अनात्मा का तिरस्कार करके आत्मज्ञान के लिए उन्मुख जो पुरुष है विवेकी है वैराग्यवान है समाधि साधन संपन्न है मुमुक्षु है जिज्ञासु है भगवान हमारे वेदांतियों में ऐसे कहने के रिवाज है कि यदि कोई जिज्ञासु ये कहे कि जब ईश्वर कृपा करेगा तब हमको ज्ञान हो जाएगा तो उसको जिज्ञासु नहीं मानते हैं उसको कहते हैं कि अभी दर्द पैदा नहीं हुआ क्यों तो बोले ये तो ईश्वर मान लो चार जन्म कृपा न करे दस जन्म कृपा न करे तो दस जन्म के लिए ये ज्ञान रूप रत्न को छोड़ने के लिए तैयार है हाँ। ये क्यों नहीं पर्दे को फाड़ देता क्यों नहीं अंधकार को विलीर्ण कर देता है क्यों नहीं भूखे शेर की तरह अपनी शिकार पर अपने शिकार पर टूट पड़ता तो कहता है कि दे कौन देवता कृपा करे तो हमको ज्ञान हो है ना तो उसको मंद अधिकारी मानते हैं वो बोले कौन कर्म करें तब ज्ञान होवे किसकी उपासना करें तब ज्ञान होवे कैसी साधना करें तब ज्ञान होवे ये होगा ये होगा ये होगा बोले वो है कैसा परमात्मा बोले वो परमात्मा ऐसा है यस्य ब्रह्म च क्षत्र उभे भगत ओदना ब्रह्म और क्षत्र दोनों जिसके ओदन है ओदन माने भोजन हो भात उनस्ती ये समुद्र में जो उद्र शब्द है ना उद्र सम्यक उनस्ती इसी समुद्र का उछलता है ये पकने के समय भात जो है ना भात हाँ वो पुदकता है महाराज उनस्ती क्लोदयती जो चित्त में शरीर में कफ की वृद्धि करे कफ की वृद्धि करे गीला कर दे शरीर को क्लेदन करे उसको घास बोलते हैं उदन बोलते हैं ये पकाया हुआ है कच्चा नहीं है बोला बोले ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जिसके उदन है और मृत्यु मृत्युर्यस्य ही और उदन निष्ठ ब्रह्म क्षत्रिय निष्ठ जो मृत्यु है कि ब्राह्मण क्षत्रिय कब तक रहेंगे मरेंगे तो सही बोले हाँ। कब ये क्या इनमें जो मौत रहती है सो बोले वो तो चटनी है वो तो अचार है वो तो घी है बोला वो मट्ठा है है ना दक्षिण के लोग अगर भात खा रहे हो तो उपसेचन का अर्थ है दही बोला और पंजाबी लोग भात खा रहे हो तो मारवाड़ी खाते हो तो उपसेचन का अर्थ है घी बोला हाँ। और बंगाली भात खा रहे हो उड़ीसा उड़िया वाले भात खा रहे हो तो उनका भी उनको उपसेशन होता है नारायण तो माने जो चीज लगाए तो भात में खाते हैं तो वो है मृत्यु अब देखो परमात्मा कैसा तो परमात्मा ऐसा तो ब्रह्म माने प्रज्ञा शक्ति प्रधान बना और क्षत्र माने प्राण शक्ति ये हम लोग ऐसा मानते हैं हमारे वैदिक विज्ञान में कि अग्नि सोमात्मकम जगत ये जगत में केवल दो तत्व है एक अग्नि तत्व और एक सोम तत्व जैसे ऋण और धन दो मानते हैं ना हाँ, ऋणात्मक शक्ति और धनात्मक शक्ति इसी प्रकार अग्नि शक्ति हाँ, जो सबको भस्म करती है और सोम शक्ति जो सबका आप्यायन करती है इसको अग्नि सोमात्मकम जगत बोलते हैं तो ये ब्रह्म जो है ना ये प्रज्ञा है सोमात्मक है हाँ, सोमोस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा हम ब्राह्मणों का राजा कौन है का आप्यायन शक्ति प्रज्ञा प्रधान चंद्र और प्राण ये बोलते हैं प्राण और रई वेदों में कई नाम है इसके अग्नि और सोम प्राण और रई इस सृष्टि में दो शक्ति हैं इन इन दोनों शक्तियों को जो खाए हुए है इनका जो अस्ता है अस्ता और यही तक नहीं मृत्युर्जस्व प्रसेतनम का अर्थ है जमराज कहते हैं कि हम भी जिसके सामने कुछ नहीं है ब्राह्मण को मारने वाले और क्षत्रिय को मारने वाले और सबका अत्यंता भाव जहाँ ऋणात्मक शक्ति भी नहीं और धनात्मक शक्ति भी नहीं ये ब्रह्म माने जहाँ प्रज्ञा भी नहीं और प्राण भी नहीं ईश्वरी तो उपाधि है प्रज्ञा और प्राण प्राण की उपाधि को उपाधि से चेतन को क्षत्रिय बोलते हैं और प्रज्ञा की उपाधि से चैतन्य को ब्राह्मण बोलते हैं तो जहाँ प्रज्ञा और प्राण नहीं ब्रह्म ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं अग्नि और सोम नहीं जहाँ प्राण और रई नहीं और इनका अत्यंता भाव भी जिसमें नहीं हाँ, घट होता है तो घटा भाव होता है जब घट ही नहीं तब घटा भाव कहाँ से होगा मृत्यु जत्यो पशु से नाम यमुनाज ने कहा जहाँ हम नहीं जहाँ नचिकेता तुम ब्राह्मण नहीं है और जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट नहीं और जहाँ मृत्यु भी नहीं प्रज्ञा और प्राण दोनों नहीं रहते हैं तब क्या रहता है बोले मृत्यु रहती है बोले जहाँ मृत्यु भी नहीं सांस नहीं चलती है और बुद्धि समाप्त हो जाती है जब मृत्यु के समय तो मृत्यु तो रहती है बोले जहाँ मृत्यु भी नहीं रहती है वो भावाभाव दोनों का अधिष्ठान भावाभाव दोनों से अवच्छिन्न भावाभाव दोनों का प्रकाशक भावाभाव है ना दोनों जिसमें नितान्त कल्पित तो वो परमात्मा भला कैसे जानोगे अब देखो शंकराचार्य भगवान ने तो ब्रह्म क्षत्र का अर्थ यहाँ सर्वधर्म विधारक सर्व प्राणभूत ऐसा किया है और मृत्यु को सर्वहर बताया है हाँ ब्रह्म सूत्र में हाँ, हाँ। ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय के दूसरे पाद में इस मंत्र के अर्थ पर विचार है नवे और नवे नवा सूत्र है अस्ताचराचर ग्रहणार्थ यहाँ ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय को भात की तरह खा जाने वाला है ये खाने वाला कौन है ये प्रश्न है वो ये मौत को प्रशेषण बनाने वाला घी की तरह हाथ में डालकर चाट जाने वाला कौन है तो बोले ये प्रश्न क्यों उठाते हो तो प्रश्न उठाते हैं कि ये जो कठोपनिषद चल रहा है कठोपनिषद का ये मंत्र है तो एक बार नचिकेता ने प्रश्न किया कि हमको अग्नि का निरूपण करो तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय को खाने वाला वही अग्नि ही तो नहीं है एक बार नचिकेता ने प्रश्न किया कि मृत्यु के अनंतर क्या रहता है वो हमको बताओ हैं मृत्यु के बाद क्या रहता है अस्तित्व के नायम अस्तित्व के तो वो जो जीव विशेष प्रश्न है तो क्या ये जीव ही है जो ब्राह्मण क्षत्रिय को खा जाता है तीसरा प्रश्न नचिकेता ने किया अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र कृता कृता ब्राह्मण और क्षत्रिय की तो क्या बात वहाँ धर्म अधर्म कार्य कारण कुछ है ही नहीं तो उस परमात्मा का वर्णन तो ये जो जस्य ब्रह्म से क्षत्रंच उभय भवत ओदन इस मंत्र में ब्राह्मण क्षत्रिय और मृत्यु तीनों का भोक्ता जो बताया गया ये कौन है अग्नि है कि जीव है कि परमात्मा है तो ऐसे वहाँ तो अधिकरण की रचना होती है ना अस्त्र अधिकरण इसको बोलते हैं अस्ताधिकरण बोले कि अग्नि की तो चर्चा ही मत करो छोड़ दो उसको उदासीन हो गए आचार्य ने प्रश्न तो उठाया परंतु उसके बारे में कोई निरूपण नहीं दिया क्यों नहीं दिया बोले उसका प्रकरण नहीं है अब यहाँ अग्नि संबंधी क्या चर्चा है यहाँ तो प्रज्ञा ने नहीं नवात्मजात परमात्मा की प्राप्ति की चर्चा है बोले अच्छा जीव हो बोले जीव की प्राप्ति कैसे होती है जीव की प्राप्ति ऐसी वैसे होती है कि खाने वाला जीव होता है और न खाने वाला ईश्वर होता है तयो रेखा पुष्पलम स्वादी अनशन अन्यो अधिकाकती थी जीव भोक्ता होता है ईश्वर भोक्ता नहीं होता रेशम सुगंध सुकृत लोके छाया तपौ ब्रह्म विदो वी आगे वर्णन आया तो बोले कि नहीं यहाँ असल में परमात्मा का ही वर्णन है तो क्यों तो इसलिए परमात्मा का वर्णन है कि जो भोक्तापन का निषेध है ना भोक्तापन का वो तो कर्म फल के भोक्तापन का निषेध है जीव कर्म फल का भोगता है और परमात्मा कर्म फल का भोगता नहीं है लो जैसे पाप कर्म या पूर्ण कर्म करेगा ना तो जीव में कर्तापन का भ्रम होता है ये कर्तापन का भ्रम ही असल में फलदाता है कर्म फल नहीं देता ना और चेतन फल नहीं देता कर्म में फल देने का सामर्थ्य नहीं है और चेतन जो है उसमें फल लेने की योग्यता नहीं है परंतु जब चैतन्य अपने स्वरूप को भूल करके अपने को कर्ता के साथ तादाद में अपन्न कर लेता है और उसको अभिमान होता है कि ये कर्ता मैं तो वो कर्तापन के कारण कर्तापन के कारण उसको फल भोगना पड़ता है और परमात्मा को तो कभी कर्तापन का अभिमान ही नहीं होता तो कर्म का फल परमात्मा का स्पर्श नहीं करता मान भ्रांत को कर्ता कर्म का फल स्पर्श करता है और अभ्रांत को कर्म का फल स्पर्श नहीं करता इसका कर्तापन के साथ संबंध है बोला ज्ञानी भी कर्म करेगा और अज्ञानी भी कर्म करेगा तो अज्ञानी कहेगा मैंने किया तो फंस गया अब कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा और ज्ञानी जानता है कि मैंने नहीं किया तो उसके पास कर्म का फल नहीं आवेगा तो कर्म के फल का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है लेकिन ये ब्रह्म और क्षत्र जो है अत्ता चराचर ग्रहणार्थ यहाँ जो ब्राह्मण क्षत्रिय माने प्रज्ञा और प्राण अग्नि और सोम प्राण और रई सूर्य और चंद्रमा इनके भक्षण का प्रसंग आया और इनके अभाव के अभाव के बाध का प्रसंग आया कि वहाँ तो इनका अभाव मृत्यु भी नहीं है तो ये तो सारी श्रुतियों में वर्णित है कि जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय परमात्मा के प्रकाश से ही होता है जतोबा इमानी भूतानी जायंते ये न जातानी जीवंती यत प्रयंती जैसे सृष्टि का कारण ईश्वर माना गया है वैसे संहार का कारण भी ईश्वर माना गया है तो यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय का अर्थ असल में चराचर है मन सारी सृष्टि हाँ। सारी सृष्टि जो है उसको परमात्मा खा जाता है और उसके खाने को भी खा जाता है माने अभाव भी नहीं है उसमें भाव अभाव दोनों नहीं है उसमें तो ये असल में परमात्मा का वर्णन है ये जीव का वर्णन नहीं है तो यस्य ब्रह्म जो क्षत्र उभे भवत उदन मृत्यु क इच्छा वेद यत्र ऐसा परमात्मा तो अग्नि सोमात्मक जगत का अधिष्ठान ब्रह्म क्षत्रात्मक जगत का अधिष्ठान रई प्राणात्मक जगत का अधिष्ठान अधिष्ठान के साथ साथ स्वयं प्रकाश सर्वावघातक भावाभाव का प्रकाशक स्वतः सिद्ध ऐसा जो परमात्मा है तो उसको बोले भाई हम कुछ साधन भजन नहीं करेंगे और गुरु कौन बना हुआ है उसके सामने तो छोटा बनना पड़ता है उसके तो पांव छूने पड़ते हैं नीचे बैठना पड़ता है अब पांव छूने के डर से नीचे बैठने के डर से विश्वास करने के डर से है ना आचार जवान नहीं हुए और विवेक वैराग्य आदि साधन संपन्न नहीं हुए और फिर दावा करें कि हम परमात्मा को जान जाएं तो कौन स्थावेद कौन जानेगा कि वो परमात्मा कहाँ है है ना अरे अभी है अभी है यही है यही है भूल मत यही है यही है भूल मत भटक रहे है ना नारायण परमात्मा परमेश्वर यही तो भरपूर बैठा हुआ है भूलो मत भटको मत यस्य ब्रह्म चो क्षत्र उभे भवत ओदन तो जस्य ब्रह्म च क्षत्र उभे भवत ओदना ये श्रुति है वो विषय है ना और इसमें संशय क्या है कि इसमें अग्नि का जीव का या परमात्मा का वर्णन है इसमें पूर्व पक्ष ये है कि यहाँ भोक्ता जीव का ही वर्णन है इसमें उत्तर पक्ष ये है कि यहाँ कर्म फल के भोक्ता का प्रसंग नहीं है यहाँ तो संपूर्ण चराचर के भोक्ता का प्रसंग है इसलिए यहाँ जीव का वर्णन नहीं ईश्वर का वर्णन है तो इसलिए सिद्धांत ये हुआ कि पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो संपूर्ण सृष्टि स्थिति संहार के भाव और इनके अभाव से उपलक्ष्य अपना प्रत्यक्ष चैतन्य ही है ये इसमें से सिद्धांत निकला इन पांच बातों का विचार करने की पद्धति है किसी भी मंत्र पर विचार करें तो विषय क्या है विषय वचन क्या है और उसमें संशय क्या है और फिर उसमें पूर्व पक्ष क्या है उसमें उत्तर पक्ष क्या है, है? और दोनों का दोनों की तुलना करने पर सिद्धांत क्या निकला इन पांच बातों से अधिकरण की रचना होती है तो ये अत्र अधिकरण में अत्ता माने भोक्ता भोक्ता अधिकरण में अत्ता अधिकरण में अत्ता चराचर ग्रहणार्थ में ब्रह्म सूत्र में इस श्रुति के अर्थ का निरूपण है यम च क्षत्र उभे भवतरोदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् वेद अर्थात साधन संपन्न होकर सदगुरु की शरण ग्रहण करके वेदार्थ का विचार करो तब इस परमात्मा का बोध होगा और संशय से ग्रस्त होकर के और अहंकार से पीड़ित होकर के अहंकाराक्रांत होकर के और विषय वासना से वासित चित्त के द्वारा इसका विचार करोगे तो इसका पता नहीं चलेगा विश्वम